इस तरह से विक्रांत काफी देर तक सोचता रहा तभी वहां पर देव पहुंचा वो मेंटल हॉस्पिटल से लौटा था वहां तो करण मल्हान के बारे में पता लगाने के लिए गया हुआ था देव ने बताया कि उसकी मुलाकात मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर से हुई थी और उन्होंने बताया कि वहां हॉस्पिटल में एडमिट होने के कुछ दिन बाद ही करण की मौत हो गई थी इसके अलावा उसे और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी थी क्योंकि वो हॉस्पिटल अब रेनोवेट होकर नया बना था तो काफी कुछ मिसिंग था और देव कर्ण का इलाज करने वाले डॉक्टर से भी नहीं मिल पाया वो कहीं गया हुआ था उधर करण मल्हान की चचेरी बहन शीला मल्हान के घर से जतिन भी लौट कर आ चुका था वहाँ से भी करण के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी करण की कजन बहन शीला ने बताया कि वो उसके कॉन्ट्रैक्ट में काफी दिनों से नहीं थी और करण के माँ बाप से भी उसके रिश्ते ठीक नहीं थे उसे बस इतना ही पता था कि करण अपने माँ बाप को लेकर लोनावला के पास पहाड़ी वाले इलाके में इसलिए रहता था क्योंकि वहाँ उसे आयुर्वेदिक दवाओं की कंपनी शुरू करनी थी और वहाँ पहाड़ के पास से उसे काफी सारी जड़ी बूटी मुफ्त में मिल जाती थी उधर सुनिधि और राघव भी तब से अपने काम में जुटे हुए थे वो गजेंद्र ठाकुर और रमाकांत के बीच के कनेक्शन के बारे में पता लगाने में जुटे ये बात तो साफ थी कि गजेंद्र की मौत के पीछे रमाकांत अग्रवाल का ही हाथ था लेकिन इसका कोई भी पुख्ता सबूत अब तक नहीं मिल सका था इसीलिए राघव और सुनिधि को ये काम दिया गया था कि वो गजेंद्र ठाकुर रमाकांत अग्रवाल और अशोक के बीच क्या कनेक्शन है ये पता लगा है लेकिन उन्हें भी अब तक इस काम में कोई ज्यादा सफलता नहीं मिल सकी विक्रांत अभी भी अपने ऑफिस की चेयर पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा था उसने अपना फोन निकाल कर टाइम देखा अब रात के साढ़े तीन बज चुके थे ऑफिस में मौजूद सभी ऑफिसर इधर उधर लुटके हुए सो रहे थे यहाँ तक कि हमेशा एनर्जी से भरी रहने वाली नयना अग्रवाल भी उस वक्त अपने डेस्क पर सिर रखकर सो रही थी लेकिन न जाने क्यों विक्रांत को इस वक्त बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी वो अभी भी व्हाइट बोर्ड के सामने खड़े होकर कुछ सोच रहा था अचानक से रमाकांत अग्रवाल और दो अन्य लोगों का नाम केस से जुड़ जाने की वजह से ऐसा लग रहा था कि ये केस अब काफी आसान हो गया है लेकिन फिर इसकी वजह से कंफ्यूजन भी काफी बढ़ गई थी विक्रांत को जो लग रहा था उसके हिसाब से जिस तरह से ये तीनों आपस में कनेक्टेड लग रहे हैं उसे देखकर तो अभी यही लग रहा है कि इस केस का मेन आदमी तो गजेंद्र ठाकुर ही है लेकिन ये तीनों आपस में कैसे कनेक्टेड है ये अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है विक्रांत ने मन ही मन खुद से सवाल किया आखिर उन बच्चों का मर्डर किसने किया होगा क्या वो अशोक और गजेंद्र ने मिलकर तो बच्चों का खून नहीं किया या या कहीं करण मल्हान ने तो बच्चों का मर्डर नहीं किया वो किडनैप हुए बच्चों में से एक का रिलेटिव भी था सुमित मल्हान उसका भांजा था और फिर वो नैना द्वारा कही गई बातों पर विचार करने लग गया अगर इन लोगों से सच उगलवाना है तो क्या सच में नैना ने जो तरकीब बताई है उसी पर काम करना ठीक रहेगा विक्रांत के मन में इस तरह के हजारों सवाल उठ रहे थे तभी अचानक से उसके अदृश्य शक्ति का अलार्म बज उठा आज उसका सक्सेस रेट इक्यानवे प्रतिशत का था और उसे उपहार में नाइट विजन मिला हुआ था उस उपहार को पाकर विक्रांत काफी एक्साइटेड था पहले भी उसे दो बार नाइट विजन मिल चुका था और उसका विक्रांत ने सही से इस्तेमाल भी किया था पहली बार तो उसने करजत में सुरंग के भीतर योगेंद्र को इसी टूल की मदद से पकड़ा था और फिर दूसरी बार जब उसे नाइट विजन मिला था तब इसकी मदद से साजिद को पकड़ा था इसीलिए विक्रांत को लग रहा था कि शायद इस बार भी वो इस टूल की मदद से किसी को पकड़ेगा इसी एक्साइटमेंट में विक्रांत ने अगले ही पल अपना सिगरेट जला लिया और फिर जैसे ही उसने एक कश मारा फिर से अदृश्य शक्ति का सिस्टम चालू हो गया आज फिर से उसे कोडवर्ड के रूप में पहाड़ और पानी शब्द दिया गया था पहाड़ और पानी पहाड़ का मतलब काम से था और पानी का मतलब लड़की से सिस्टम ने कहा पानी के पहले पहाड़ आगे की सड़क घुमावदार है आगे अजूबी शक्तियां आएंगी और भविष्य असमंजस में है विक्रांत ये जानने को बेहद उत्सुक हो रहा था कि आखिर ये अदृश्य शक्ति कोडवर्ड देने के बाद जो पहली बोलती है उसका क्या मतलब हो सकता है क्या पता अगर विक्रांत इस पहली के अर्थ को भी जान ले तो उसका सारा काम आसान हो जाए वैसे पहले विक्रांत को जितनी बार ये पहाड़ और पानी शब्द कोडवर्ड के तौर पर मिला है उसका काम हमेशा आसान होता गया पहले जब भी उसे लगातार उस तरह के कोडवर्ड मिलते थे तब वो केस को सॉल्व करने के बेहद करीब पहुंच जाता था इसी वजह से विक्रांत अब फिर से ये कोडवर्ड मिलने से काफी उत्साहित हो रहा था एक बात से तो वो निश्चिंत हो गया था कि उसकी जांच की दिशा सही जा रही है यानी कि इतने दिनों से वो जो मेहनत कर रहा था वो बेकार नहीं गई अदृश्य शक्ति द्वारा दिए गए कोडवर्ड से तो यही समझ आ रहा था कि अब विक्रांत बहुत जल्द इस केस के असली मुजरिम तक पहुंचने वाला है इस कोडवर्ड का एक मतलब और भी है वो ये है कि विक्रांत जैसा सोच रहा है शायद वही सही है विक्रांत के दिमाग में यही बात चल रही थी कि इस किडनैपिंग केस में अशोक रमाकांत अग्रवाल और करण मल्हान ही असली गुनागार है लेकिन क्या उसका ये सोचना सही है इसी उत्सुकता में विक्रांत को नींद भी नहीं आ रही थी वो फिर से जाकर अपने व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ा हो गया उसने इस केस से जुड़ी इन्फॉर्मेशन नोट करने के लिए छह व्हाइट बोर्ड पर डाले इन छह बोर्ड को भरने के लिए पूरी ब्रांच के पुलिस फोर्स की कई दिनों की मेहनत लगी थी विक्रांत इस मेहनत को बेकार नहीं जाने देना चाहता था वो बहुत ध्यान से बोर्ड में निहार रहा था उस ढूंढने की कोशिश कर रहा था तभी अचानक से उसे सुंदर की कही बात याद आ गई सुंदर सिंह जिससे मिलने विक्रांत थापर रोड जेल में गया था जो किडनैपिंग के केस में अपनी सजा काट रहा था उसने विक्रांत को किडनेपर के साथ ही मर्डर होने के पीछे के तीन कारणों के बारे में बताया था लेकिन इस केस में एक और कारण भी निकल कर सामने आ रहा था क्योंकि करण मल्हान का भांजा सुमित मल्हान का भी किडनेप हुआ था और अगर करण भी किडनेपिंग में शामिल था तो यहाँ पर मर्डर करने के पीछे एक और स्थिति बन सकती कोई भी किडनेपर कभी अपने जानने वाले को किडनैप नहीं करता है पहली बात तो इसमें पकड़े जाने में एक बहुत खतरा रहता है दूसरी बात इतनी बड़ी दरिंदगी तो शायद ही कोई करता हो एक बार के लिए अगर मान भी लें कि ऐसा हुआ रहा होगा तो फिर वो लोग स्कूल की गाड़ी को क्यों साथ लेकर गए उसके साथ ही बस के ड्राइवर को भी पकड़ कर ले गए अगर वो सिर्फ किडनैपिंग के ही मकसद से आए थे तो सीधे बच्चों को पकड़ना था ना ये ख्याल आते ही विक्रांत के दिमाग में एक और बात आई विक्रांत सोचने लगा क्या पता जो मैं शुरू में सोच रहा था वही सही हुआ ये ये सब लोग प्रोफेशनल किडनैपर ना रहे हों तो क्या हो सकता है उस सिचुएशन में क्या हुआ रहा होगा हो सकता है कि रमाकांत अग्रवाल करण मल्हान और अशोक ने मिलकर पहले रॉबरी का प्लान बनाया हो ये लोग सड़क पर लूटपाट करने के लिए खड़े रहे हों और फिर इन्हें स्कूल बस आती दिखी हो इनका असली प्लान गाड़ी लूटना रहा हो और फिर जब स्कूल बस पहुंची होगी तो इन्होंने ड्राइवर को धमकाते हुए बस पर कब्जा करना शुरू किया होगा लेकिन बस में करण मल्हान का भांजा सुमित मल्हान भी बैठा रहा होगा उसने तुरंत ही अपने मामा को पहचान लिया होगा फिर पकड़े जाने के डर से उन लोगों ने बच्चों समेत स्कूल बस को कहीं छुपा दिया होगा बाद में जब तीनों को ये एहसास हुआ कि ये बच्चे काफी अमीर घराने के हैं तब उन्होंने बच्चों की किडनैपिंग का प्लान बनाया होगा इन्हीं सब सोच विचार में उन लोगों को फिरौती के पैसे मांगने में तीन दिन लग गए लेकिन समस्या तो ये थी कि कर्ण का भांजा भी किडनैप हुए बच्चों में शामिल था और उन्हें डर था कि अगर ये बच्चे जिंदा वापस लौटे तो वो सभी पकड़े जा सकते हैं इसी डर से उन तीनों ने मिलकर बच्चों का मर्डर कर दिया हो क्योंकि उनके पास खुद को बचाने का कोई और चारा भी नहीं था अब चूंकि करण मरहान के भांजे को भी मारना पड़ा था इसी सदमे में वो पागल हो गया लेकिन बाकी दोनों बड़े मौत से अपनी जिंदगी काट रहे हैं और ये भी हो सकता है कि करण मल्हान को मेंटल हॉस्पिटल के भीतर मरवा दिया गया हो क्योंकि तो रमाकांत और अशोक को ये डर रहा हो कि कहीं करण किसी के सामने उनके सारे राज ना खोल दे ओ ये सब सोचते सोचते विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ी उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे क्या यही सच्चाई है क्या सच में ये किडनैपिंग सिर्फ एक दुर्घटना थी कोई प्लैंड किडनैपिंग नहीं थी क्या सच में ये किडनैपिंग केस इतना सिंपल था इन सब सवालों के साथ विक्रांत सोच विचार करता रहा उसके मन में सवालों का तूफान उमड़ रहा था अभी भी उसे अपने कई सारे सवाल के जवाब ढूंढने थे